हो तीन बार ओम का उच्चारण करेंगे ओ समाधान के क्रम में आवाज ठीक आ रही प्रश्न है आत्म साक्षात्कार की योग्यता कब प्राप्त होती है संप्रज्ञात समाधि की अंतिम अवस्था में आत्मा का साक्षात्कार संप्रज्ञात समाधि में होता है संप्रज्ञात समाधि के लिए अपर वैराग्य चाहिए तो अपर वैराग्य उसके बाद संप्रज्ञात समाधि और उसमें फिर आत्म साक्षात्कार योग्यता की दृष्टि से उसमें सामान्य भाषा में कहें तो एक तो एकाग्रता होनी चाहिए चित्त की एकाग्र भूमि होती है चित्त की जो भूमिया बताई गई हैं योग दर्शन में क्षिप्त मूड विक्षिप्त एकाग्र और निरुद्ध क्यों हंस रहे हैं आप उधर नहीं देखना चाहिए आप भी यज्ञ में हंसते रहते हैं प्रवचन के समय क्यों इधर उधर देखते हैं बीच बीच में हंसते रहते हैं दूसरों को दिखता नहीं है क्या तो चित्त की जो भूमिया होती हैं उसमें जब चित्त की एकाग्र भूमि होती है एकाग्र अवस्था होती है तो ये होता है तो मोटे तौर पे इसकी योग्यता योग दर्शनकार ने बताई है संप्रज्ञात समाधि अभी आपके और भी प्रश्न हैं इसी से संबंधित वो सब आ जाते हैं फिर कुछ बचता है तो पूछिए क्या अहंकार रागद्वेश आदि दोषों के रहते आत्म साक्षात्कार हो सकता है अहंकार राग और द्वेष राग और द्वेष तो सीधे सीधे वृत्तियों में गिनाए ही गए हैं और इनकी दो स्थितियां होती हैं एक वृत्ति अवस्था एक संस्कार अवस्था एक वृत्ति अवस्था और एक संस्कार अवस्था संस्कारों की समाप्ति तो असंप्रज्ञात में और उसके भी बहुत बाद में असंप्रज्ञात में जब ये दग्धबीज हो जाते हैं पूरी समाप्ति तो तब होती है संस्कार के स्तर पर लेकिन वृत्ति के स्तर पर उनका नियंत्रण पर्याप्त मात्रा में पहले हो जाता है और इनका नियंत्रण होने पर ही एकाग्र अवस्था बनती है यदि राग और द्वेष पे नियंत्रण नहीं है तो एकाग्र अवस्था नहीं बन पाएगी चंचलता आएगी कभी ये विषय उठेगा कभी वो विषय उठेगा इसलिए इसका उत्तर सीधे सीधे ऐसे नहीं दे सकते कि राग द्वेष आदि दोषों के रहते आत्म साक्षात्कार हो जाता है संस्कारों के स्तर पर ये रह सकते होंगे पूरा वैराग्य अभी उसको नहीं हुआ है पर वैराग्य अभी नहीं हुआ है पूरा वैराग्य पर वैराग्य कहलाता है बड़ा ऊंचा वाला वैराग्य आत्म साक्षात्कार पर वैराग्य से पहले की स्थिति है आत्म साक्षात्कार के बाद में ही उसको परवैराग्य होता है नहीं तो परवैराग्य भी हो नहीं हो सकता और परवैराग्य के बाद भी असंप्रज्ञात समाधि में संस्कार तो बचे हुए रहते हैं विराम प्रत्यय अभ्यास पूर्व संस्कार शेषो अन्य तो संस्कार शेष तो रहते हैं वृत्ति के स्तर पर पर्याप्त नियंत्रण होता है संस्कार भी क्षीण हो चुके होते हैं काफी लेकिन समाप्त नहीं हो जाते दग्ध बीज नहीं हो जाते और यही बात अहंकार के लिए लगेगी लेकिन जिस समय में ये स्थिति बनती है जिस समय वो समाधि में बैठा है कोई तो आत्म साक्षात्कार की स्थिति में उस समय तो वृत्ति के स्तर पर वो ये चीजें बिल्कुल नहीं रहेंगी पूरे नियंत्रण में रहेगी इसका कोई लेश भी नहीं दिखेगा उसको तब ये एकाग्रता बनेगी और तब ये पद बनेगी हाँ लेकिन चूंकि स्थिति हमेशा एक जैसी नहीं रहती है उसे नीचे के आने पर इस तरह की वृत्तियां उठ सकती हैं असावधानी होने पर वृत्तियां उठ सकती हैं लेकिन वो वृत्तियां होंगी बहुत क्षीण अभाव नहीं कह सकते अभाव तब होगा जब संस्कार भी दग्ध बीज हो जाते हैं तीसरा प्रश्न है इसी में आत्म साक्षात्कार का स्वरूप क्या है तो आत्मा का साक्षात्कार जो आत्मा का जो स्वरूप है उसका बोध होता है उसको यूं समझें कि हम स्वयं की अनुभूति करते हैं और उस समय और कोई चीज नहीं होती है अन्य किसी देश का बोध किस स्थान पर मैं बैठा हूं किस क्षेत्र में हूं इत्यादि भारत में बैठा हूं या अमेरिका में बैठा हूं या कमरे में बैठा हूं या बाहर बैठा हूं देश का कोई बोध नहीं रहेगा दूसरा कोई विषय नहीं रहेगा वो एकाग्रता की ही एक तरह से ये व्याख्या है और कोई विषय नहीं रहेगा काल का कोई बोध नहीं रहेगा कि सुबह है शाम है मेरे को इतनी देर बैठे हुए हो गई काल का कोई बोध नहीं रहेगा देश और काल का अन्य किसी वस्तु की क्रिया की कोई स्मृति नहीं आएगी अपने शरीर का कोई बोध नहीं कि मैं युवा हूं वृद्ध हूं स्त्री हूं पुरुष हूं कौन से वस्त्र पहन रखे हैं इत्यादि क्या क्या पढ़ा लिखा हूं मेरा क्या पद है मैं क्या करता हूं मेरे पिता कौन है मेरी माता कौन है मेरी संपत्ति क्या है इत्यादि कुछ नहीं किसी वस्तु का नाम या रूप नहीं रहे तो क्या बचेगा फिर ये सारी चीजें हटा दी देश काल वस्तु वस्तुओं के नाम रूप कुछ नहीं है क्या रहेगा केवल एक विषय और सब जगह से हटता है तो व्यक्ति स्वयं पे जाकर के टिक जाता है जैसे ही ये समाप्त होंगे जैसे ही राग द्वेष समाप्त होंगे जैसे ही कोई लौकिक इच्छा और कुछ नहीं रहेगी तो कहा जाके टिकेगा अपने पर जाके टिकेगा मैं हूं मैं चेतन हूं इसके ऊपर जाके टिकेगा ज्ञान से भी वो अपने को पृथक देखता है विवेक ख्याति है जो बहुत ऊंची स्थिति होती है उससे भी वो अपने को पृथक देखने लग जाएगा जिसको कि वो पहले अपना ही रूप मानता था उसको भी पृथक देखने लगता है मूल रूप से अपनी अनुभूति करता है लेकिन उस समय सत्वगुण बहुत उच्च स्तर का होता है रजोगुण तमोगुण क्षीण होते हैं तो सत्वगुण के कारण से उसको सुख बहुत लगेगा वहां सुख की अनुभूति शांति की अनुभूति गहराई की अनुभूति एकाग्रता की अनुभूति वो उसको बहुत लगेगी जैसे किसी भी सुख के प्रति व्यक्ति आकर्षित होता है और उसमें टिकता है उसे हटना नहीं चाहता ऐसी उसकी इच्छा वहां पर होती है इसकी प्रक्रिया व उचित विधि क्या है प्रक्रिया योग दर्शन में बताई है अष्टांग योग ही इसकी प्रक्रिया है अष्टांग योग ना कह करके दूसरी विधि से हम कुछ दूसरा नाम देना चाहें तो वो नाम दे सकते हैं लेकिन प्रक्रिया वही है अपने को संयमित करना अविद्या को हटाना विवेक को पैदा करना वैराग्य की स्थिति लाना उस सब के लिए दिनचर्या तपश्चर्या ज्ञान की वृद्धि सेवा जागरूकता ईश्वर प्रणिधान ये जो सारी सारी चीजें हैं स्वस्वामी संबंध हटाना मैं मेरे का संबंध अहंकार को हटाना इत्यादि जो चीजें सामान्यतः बताई जाती हैं जिन्हें कि हम सोचते हैं कि जो ज्यादा इनसे परिचित हो जाते हैं कि ये तो हमने बहुत बार शिविरों में सुन ली वर्षों से हम सुन रहे हैं रोज ये यही बातें हैं इनसे तो कुछ नहीं होता ये जो बात है यही चीजें हैं जो वहां तक पहुंचाएंगी तो कुछ और होना चाहिए योगाभ्यास में ये सत्य अहिंसा ब्रह्मचर्य इत्यादि तो चीजें हैं ये तो सुनी भी हैं शौच संतोष तप स्वाध्याय प्राणायाम भी हो गया आसन भी हो गया कुछ और होना चाहिए यही तो चीजें हैं और कहा से इन्हीं को तो है इनको सुन लिया और संतुष्ट हो गए कि बस ठीक है ये तो हो गया इनसे तो कुछ नहीं होता कुछ और चाहिए कुछ और विशेष चाहिए वो विशेष और बता दो तो भी वो कहेगा ये अच्छा कुछ और चाहिए क्या है इससे क्योंकि किया तो है नहीं उसकी गहराई में गए नहीं है तो प्राप्ति भी नहीं है जितना किया उतनी प्राप्ति है जीवन में सुख शांति है लेकिन जिस गहराई पे जाना चाहिए वो नहीं गए तो वो स्तर भी प्राप्त नहीं होगा फिर वो सोचते नहीं इसका तो हम पालन कर ही रहे हैं इतने समय से और कुछ और चाहिए इससे तो हुआ नहीं अति पालन भी कर रहे हैं नहीं हुआ है तो अभी और लंबे समय तक पालन करना आवश्यक है क्योंकि अभी अंदर के क्लेश क्षीण नहीं हुए हैं दोष अभी नहीं हटे हैं विद्यमान हैं इनके पालन करते करते ही तपस्वाध्याय ईश्वर प्रणिधान क्रिया योग इनके करते करते वर्षों तक करते करते वो इसी से ही क्षीण होने वाले हैं मोटे तौर पे दिखेंगे नहीं कि क्या क्षीण हो रहे हैं ध्यान देंगे तो पता लगेगा लेकिन ना भी पता लग रहा हो तो भी ये चलते रहेंगे चल चलते रहना है चलते रहना है दो साल दस साल बीस साल तीस साल जिसके जितने हैं जो जितना कर रहा है चलते जाएंगे चलते जाएंगे वहां अवश्य पहुंच जाएंगे किसी के लिए कोई समय निर्धारित नहीं कर सकते कि दो साल में हो जाएगा तीन साल में हो जाएगा दस में बीस में एक जन्म में दो जन्म में जैसा पुरुषार्थ है और जैसे मल है जितने मल है अधिक मल है तो सफाई में अधिक समय लगेगा मल भी कम है लेकिन पुरुषार्थ भी कम है तो भी देर लगेगी मल कम है पुरुषार्थ अच्छा है तो शीघ्र हो जाएगा मल अधिक है और पुरुषार्थ भी बहुत कम है तो बहुत देर से होगा <clears throat> बस वही गणित यहां पर भी लगेगा विधि वही है विषय वही है जो हम पढ़ते सुनते हैं जानते हैं इसको करते करते इनकी सूक्ष्मता में हम खुद जाते हैं और वो सूक्ष्मता कोई सीधे सीधे बता नहीं सकता सबके अलग अलग अनुभव अलग अलग संस्कार करते करते मोटी मोटी बातें कुछ गहरी बातें बताएंगे समस्या होगी तो कोई बताएगा पूछने पे लेकिन जो करते करते अनुभव आता है वो आपको और कहीं नहीं मिलेगा वो आपको खुद ही अनुभव में आएगा स्थितियों से हम तुलना करते रहते हैं कि शास्त्र में ये लिखा है ये मेरी स्थिति बनी या नहीं बनी पूरे तटस्थ भाव से भ्रांति में भी बहुत हो जाता है भ्रांति भी नहीं रखनी है पूरी सावधानी से करते करते करते करते बाकी अपनी अनुभूति स्वयं होगी अब बोलिए स्वस्वामी संबंध उसमें जो उत्तर पहले मैंने अहंकार और राग और द्वेष के बारे में दिया था वही उत्तर यहां भी लागू होगा इसके संस्कार तो अंत में तक होंगे स्वस्वामी संबंध यानी सूक्ष्म रूप से उसका मतलब है राग स्वस्वामी संबंध को ठीक है हमने शब्द कुछ और लिया मैं मेरे का संबंध स्वस्वामी संबंध में नहीं मैं मेरे का संबंध और वो भी अविद्या युक्त जो अविद्या युक्त मैं मेरे का संबंध है वो बाधक है वो अज्ञान है और ये सूक्ष्म रूप से राग ही है स्वस्वामी संबंध यानी राग तो जो उत्तर मैंने आपको पहले दिया उसमें और स्वसमय संबंध का मतलब ये भी नहीं लेना चाहिए कि हम ये ना कहें कि ये मेरा शरीर है ठीक है मेरा शरीर है ये मुक्ति में बाधक नहीं है ये मेरा शरीर है यानी मेरे उपयोग के लिए मिला है मेरे कर्मों के अनुसार मिला है मेरे वर्तमान के पुरुषार्थ के अनुरूप है ये जैसा मैंने खान पान दिनचर्या की इसके सार संभाल की उसके हिसाब से है ये जैसा माता पिता से मिला उस तरह के कर्मानुसार हम उस उन माता पिता के यहाँ गए हमारा जन्म हुआ <clears throat> वैसा वैसा मिला तो ये ये किसका शरीर है मेरा शरीर है मैंने अपना मकान बनाया मेरा मकान है व्यवहार के लिए उपयोग के लिए है इतने इस कथन में इस तरह के प्रयोग में कोई बाधा नहीं है मेरी पुस्तक है मेरा वस्त्र है मेरा तौलिया है इसमें कोई दोष नहीं है यदि स्वस्वामी संबंध अविद्या से युक्त होता है तो ये बाधक होता है अब शरीर मेरा है ये कहते हुए उसको ये भाव है कि मैंने ही इसको किया और किसी का सहयोग नहीं है इसमें परमात्मा का सहयोग नहीं है वो कृतज्ञता उसके मन में नहीं है तो ये बाधक बन जाएगा वो इसे अपना इस, इसका अपने को वैसा मालिक समझता है जैसा मालिक वो है नहीं ये ही स्वस्वामी संबंध उसको बाधक बन जाएगा तो केवल मैं मेरे का संबंध बोल देना इतने मात्र से वो बाधक बन जाए या जो कोई इस स्थिति में पहुंचता है वो किसी चीज के लिए मैं और मेरे का प्रयोग ही नहीं करेगा शब्द ही नहीं बोलेगा ऐसा नहीं समझना चाहिए ममत्व वहां पर यदि है राग वहां पर है अविद्या है इस संबंध में तो वो बाधक बने हाँ दोनों तरह हो सकता है दोनों तरह हो सकता है क्रमशः भी हो सकता है और सीधे भी हो सकता है और दूसरों को अधिक पता नहीं लगेगा जो लक्षण पता लगते हैं वो तो उससे निचली स्थिति वालों में भी वो आपको वही लक्षण दिखेंगे मुख्य वही है विवेक वैराग्य ये उसमें दिखना चाहिए यम नियमों का पालन उसमें दिखना चाहिए ये जो आधारभूत चीजें जो हमें बाहर दिखाई देती हैं वो तो यही दिखाई देंगी अंदर की स्थिति वो बाहर वालों को पूरी पता नहीं लग सकती लेकिन बाहर से यदि यम नियम का भंग हो रहा है यदि अविद्या है वृत्ति के रूप में उस तरह की जैसी लौकिक व्यक्तियों में देखी जाती है वो दिखाई दे रही है तो कह सकते हैं वैराग्य नहीं है जो बाहर से हमें दिखाई देता है लग रहा है कि आसक्ति है तो कह सकते हैं कि ये वो स्थिति नहीं है इन्हीं से हमको बाहर की इन चीजों से ही पता लगेगा और कोई अच्छा, विवेक और वैराग्य को उत्पन्न करना पड़ता है या विवेक होने पर आप वैराग्य अपने आप हो जाता है इनका कहना है कि विवेक और वैराग्य को उत्पन्न करना होता है विवेक होने पर वैराग्य आएगा ही वो उसकी स्वतः परिणति है लेकिन फिर भी व्यवहार में हम प्रयोग करते हैं कि भाई विवेक को उत्पन्न करना है विवेक को पाना है और वैराग्य को पाना है ये सब बातें प्रयोग की जाती है लेकिन वास्तविकता उसमें है कि ज्ञान से ही वह पराकाष्ठा वैराग्य ज्ञान होगा तो वैराग्य आ ही जाता है लेकिन ज्ञान पूरा नहीं हुआ है और वो वैराग्य का प्रयास भी कर रहा है कि भाई मैं हट जाऊं नहीं हट पा रहा हूं और हटने का प्रयास करता है तो दो तरह से व्यक्ति दिखाई देंगे आपको एक ज्ञान में परिवर्तन करते हुए एक वैराग्य का अभ्यास करते हुए दोनों तरह से व्यक्ति दिखाएगा एक ज्ञान के स्तर पर अपने को ठीक कर रहा है अवैराग्य स्वतः हो जाएगा उसके लिए कोई प्रयास नहीं कर रहा है और एक वर्ग होता है जो ज्ञान का भी संशोधन कर ही रहा है कुछ तो लेकिन वैराग्य के लिए भी प्रयास करता है क्या प्रयास करेगा उन चीजों से अलग हटा हुआ दिखेगा संसार की जगह एकांत में चला जाएगा तपस्या करेगा इन इन विषयों से पृथक रहना है उनके संपर्क में नहीं जाएगा अब ये क्या कर रहा है एक तो है कि ज्ञान हो गया तो उन विषयों की तरफ उसकी प्रवृत्ति नहीं होगी स्वतः नहीं होगी ये वैराग्य हो गया एक है कि अभी ज्ञान पूरा नहीं हुआ है वैराग्य भी नहीं हुआ है मन में इच्छाएं बनी हुई हैं लेकिन इतना पता लग गया है कि ये गलत है और मुझे इस तरफ नहीं जाना है और अब वो शारीरिक प्रयास से या भौतिक प्रयासों से अपने को उस रागात्मक स्थिति से विषय भोगों से अलग रख रहे हैं शरीर की सुंदरता है रंग रूप है आभूषण है बाल है वस्त्र है इससे कोई व्यक्ति अपने को आकर्षक बनाने का प्रयास करता है भोग विलास की तरफ जाता है अब उसको सादा रहना है तो उसने मान लीजिए अपने बाल कटवा दिए सादा कपड़े पहन लिए इत्यादि प्रयास क्या है कि मैं इस तरफ ना जाऊं शरीर की सुंदरता में प्रयास ना करूं जैसा कि दूसरे करते हैं लेकिन अभी शरीर की सुंदरता से वैराग्य नहीं हुआ है राग का विचार उठता है अब ये जो क्या चीजें चल रही हैं अपने को नियंत्रित करने का ये वैराग्य का प्रयास चल रहा है ठीक है ज्ञान के स्तर पे भी कर रहा है लेकिन इधर भी रोक रहा है भोजन बहुत अच्छा करता था बहुत चीजें चटपटी चीजें बहुत मिठाइया बहुत तरह तरह के व्यंजन महंगा भोजन बहुत गरिष्ठ या पौष्टिक सूखे मेवे और जो जो भी कुछ हो सकता है उसके प्रति है दिन में दस बार खा रहा है ये खा रहा है वो खा रहा है उस होटल का खा रहा है वहां जा जा करके खा रहा है मंगा मंगा करके खा रहा है ये किसी का चल रहा है उसको पता लगा कि भाई ये चीजें मुझे छोड़नी चाहिए जिस दिन पूरा विवेक हो जाएगा तो ये चीजें छूटी जानी है लेकिन विवेक पूरा विवेक भी होना आसान नहीं होता है सबसे कठिन है वो बहुत कठिन है क्योंकि पिछले संस्कार उभरेंगे आदतें ऐसी डाल रखी हैं कि वो उभरेंगी ही संस्कार उभरेंगे ही उसको रोकेगा कैसे वो लेकिन इन चीजों से रुकना भी चाहता है तो ठीक है घर में बनाने ही नहीं देंगे घर में बनेगा तो मैं खाऊंगा रोक नहीं सकता अपने को मैं घर में ही नहीं बनने दूंगा अथवा घर में तो सादा खा लेते हैं लेकिन बाहर जाते हैं तो खा लेता है मांस खा लेता है शराब पी लेता है पार्टी में जाता है कहीं शादी ब्याह में बोले वहां कुछ खा लेता है वहां शराब पी लेता है मांस भी खा लेता है तब अपने को वैसे रोक नहीं सकता वहां जाएगा तो खाता है वो ऐसे ही लोग और ऐसे ही वो अपने को नियंत्रण नहीं है बोले नहीं मैं जाऊंगा ही नहीं है शादी ब्याह में ही नहीं जाऊंगा पार्टी में ही नहीं जाऊंगा होटल में ही नहीं जाऊंगा मैं जाऊंगा ही नहीं तो खाऊंगा कैसे वहां पर अब ये चीजें क्या चल रही है ये कोई ज्ञान उत्पत्ति का प्रयास नहीं है ये विवेक प्राप्ति का प्रयास नहीं है ये वैराग्य प्राप्ति का प्रयास कर रहा है ये वैराग्य का अभ्यास कर रहा है दो बातों में ध्यान देना अलग कर तो रहा है ना अपने को अलग कर रहा है लेकिन अंदर से नहीं हुआ है अभी देखो तो दो प्रक्रिया है उस पर ध्यान दो जो आपने प्रश्न पूछा था भाई विवेक हुआ तो वैराग्य तो हो ही जाएगा ये बात सत्य है मैं मना नहीं कर रहा हूं बिल्कुल ठीक है उस स्थिति में अपने को दूसरों से हटाया नहीं जाता है बला हम हट जाते हैं हम इन विषय भोगों से स्वतः हट जाते हैं ये है विवेक होने पे जो वैराग्य होता है वहां पर बलपूर्वक नहीं हटते हैं दूसरे बलपूर्वक हमें नहीं हटाते हैं हमारे को कोई नियम नहीं लगाना पड़ता हम स्वयं हट जाते हैं लेकिन दूसरी स्थिति भी है हम बलपूर्वक अपने को विषयों से हटाते हैं अभी बल क्यों लग रहा है जोर क्यों पड़ रहा है क्योंकि अंदर अभी विवेक नहीं है क्योंकि अंदर से तो विषय आकर्षित कर रहे हैं संस्कार उधर आकर्षित कर रहे हैं इसलिए स्वयं बलवान बलत करता है बलपूर्वक नियम बनाता है और स्वयं भी नहीं कर पाता तो वो दूसरों को कहता है कि नहीं जी मैं तो नहीं चल सकता मैं तो समूह में रहना चाहता हूं आपके नियम में रहना चाहता हूं ताकि मैं चल सकूं यानी वो अकेला भी नहीं बला कर पा रहा है इतना विषयों का वेग है संस्कार इतने हैं नहीं जी अकेला तो मैं नहीं हो सकता मैं तो कहीं ऐसी आश्रम में चला जाऊंगा ऐसी शिविर में चला जाऊंगा ऐसे गुरुकुल में चला जाऊंगा वहां की दिनचर्या में तो वहां रहेगा ही नहीं कुछ तो कैसे करूंगा ये भी क्या है विवेक का अभ्यास किया जा रहा है ये स्वतः नहीं हो रहा है बल लग रहा है यहां पर और जो पहले वाली स्थिति थी वो अलग थी वो वास्तविक स्थिति है लेकिन वो हो तो हो नहीं पाता है वो सोचता है कि जब तक विवेक नहीं हुआ तो क्या मैं ऐसे ही बहता रहूं मेरे को पता है कि ये गलत चीजें तो उसमें कुछ तो रोकू अपने को बलपूर्वक कई जने बहुत कठोर नियंत्रण करते हैं इसी विषय में वर्षों तक नियंत्रण रखते हैं लेकिन इस नियंत्रण के साथ यदि विवेक का प्रयास नहीं किया गया अभ्यास नहीं किया गया तो ये वर्षों के बाद भी यूं धराशयी हो जाएंगे वर्षों तक भले ही कितना भी कैसा रहा हो उस समय बाद में ढीला हो जाएगा वो तो विशेष दोष ना हो जाए विशेष संस्कार ना बन जाए इसके लिए ये विवेक का अभ्यास किया जाता है वैराग्य का अभ्यास किया जाता है उधर से हम हटते हैं किंतु साथ में विवेक वाला काम भी करते रहना पड़ता है वो अत्यंत आवश्यक है वो मूलभूत चीज है तो इसलिए विवेक से वैराग्य होता है लेकिन फिर भी ये कहा जाता है कि विवेक की प्राप्ति करनी चाहिए वैराग्य की प्राप्ति करनी चाहिए वैराग्य की प्राप्ति भी कही जाती है और कोई अच्छा ज्ञान की प्राप्ति समझ की प्राप्ति मोटे शब्दों में तो ये उपमा विवेक क्या करता है अच्छे और बुरे को अलग अलग करता है जिसको और सामान्य भाषा में कहें या कुछ शास्त्रीय भाषा में कहें नीर क्षीर विवेकी नीर कहते हैं जल को पानी को क्षीर कहते हैं दूध को जो दूध का दूध और पानी का पानी कर देता है जो चीज ये इधर और ये इधर अच्छा ये तो और ये बुरा ये ये उचित ये अनुचित इसका जो भेद कर सकता है पृथकता कर सकता है उस सामर्थ्य को शक्ति को विवेक बोलते हैं जैसे कि हंस करता है हंस दूध दूध पी लेता है पानी पानी को छोड़ देता है ऐसे अच्छा और बुरा सब मिला हुआ है उसमें से क्या उचित है क्या अनुचित है उसको बिल्कुल पता रहता है ये गलत है ये सही है सही को अपना लेता है बुरे को छोड़ देता है बुरे को छोड़ देता है ये वैराग्य की स्थिति है विवेक होता है पहले तो ये तो पता लगे कि अच्छा क्या है और बुरा क्या है ये कंकर है और ये गेहूं है ये पहले पता लगना चाहिए ना कंकर और गेहूं का जो भेद है ये ज्ञान है ये विवेक है और जब पता लग गया तो चुप चुप करके गेहूं को अलग किया कंकर को अलग किया कि अलग कर दिया ये बड़ा क्यों तो विवेक का मतलब अलग अलग कर देना छाट देना छटनी कर देना छलनी कर देना छान देना उसको कचरा अलग विधान अलग उचित अलग अनुचित अलग ये शुद्ध है ये अशुद्ध है ये नित्य है ये अनित्य है इत्यादि जो सारी बात है ये विवेक है ज्ञान है विद्या है ऐसा भी एक मिनट हो गया कुछ हाँ वैराग्य जो है राग का अभाव राग का न होना ये वैराग्य कहलाता है उसका भाव ऐसा होना ये वैराग्य कहलाता है राग क्यों होगा किसी भी वस्तु में किसी विषय में राग हो सकता है वस्तु में व्यक्ति में किसी भावना में किसी भी तरह पुस्तक में लोगों के साथ में समूह के साथ में देश के साथ में भाषा के साथ में जाति के साथ में किसी के भी साथ में राग हो सकता है उस जिसके प्रति राग है राग है अविद्या युक्त राग उसमें जब देखा कि ये गलत है तो उससे राग का हट जाना राग का हट जाना ये वैराग्य की स्थिति है हटेगा क्यों जीवात्मा किसी जिसके प्रति राग है उसे क्यों हटेगा जब तक उसमें दुख या हानि नहीं देखेगा उसमें दोष नहीं देखेगा तब तक हटेगा नहीं वो ये मूलभूत बातें हैं आत्मा से संबंध में सब जगह घटती हैं उसमें राग है उसको पाने के लिए दौड़ रहा है इसका मतलब है उसमें वो हित देख रहा है उसमें वो सुख देख रहा है उसे वो सुख का साधन समझ रहा है इसलिए उसको पाने के लिए दौड़ता है हम उसी चीज को पाना चाहते हैं जिसमें हम अपना हित देखते हैं हित है नहीं लेकिन वो हित देख रहा है ये अविद्यायुक्त राग है उसको वो जैसे ही उसको विवेक हुआ कि ये तो मैं सोच रहा था कि अच्छा इसमें तो विष मिला हुआ है ये तो हानिकारक है जिसे मैं अच्छा समझ रहा था इसमें तो हानि है ये जो यात्री मेरे साथ में बैठा हुआ है जो मेरा मित्र बना हुआ बैठा ये तो लुटेरा है ये तो मेरे को नशीली दवाई पिला करके और मेरे को लूटने वाला है जैसे ही ये पता लगेगा उससे पृथक भाव आ जाएगा ये वैराग्य जैसे ही विवेक हुआ उसकी सही स्थिति पता लगी चोर को उचक्के को उचक्का समझ लिया अब मित्र नहीं समझेगा उसको पृथक भाव हो जाएगा ये वैराग्य यही संसार के विषय धन संपत्ति यश प्रतिष्ठा जिन जिन के प्रति हम भागते हैं जिन जिन में हम बहुत अच्छा हमें प्रतीत होता है इनको पा करके हम अपने को गौरवान्वित समझते हैं सुख की प्राप्ति हम समझते हैं उन चीजों के प्रति ये सुख की प्राप्ति क्या वास्तविक सुख की प्राप्ति है ये पूर्ण सुख की प्राप्ति है या इसमें दुख मिश्रित है जैसे जैसे ये समझ बढ़ती जाएगी वैसे वैसे व्यक्ति इनसे पृथक हटेगा दोष देख करके पृथक हटेगा हर जगह यही सूत्र लगता है ये वैराग्य हम्म। आवश्यक नहीं है आवश्यक नहीं है लेकिन प्रश्न यह है कि वैराग्य के लिए आश्रम में रहना आवश्यक है जैसे उनका प्रश्न था कि क्या मुक्ति प्राप्ति के लिए शास्त्र का पढ़ना आवश्यक है आवश्यक तो नहीं है बिल्कुल वैसा ही उत्तर नहीं आएगा आवश्यक तो नहीं है बिना उसके भी हो सकता है लेकिन मुश्किल बहुत है मुश्किल बहुत है नहीं कर पाते घर में वही का वही माहौल उसी तरह के लोग उस दबाव को वो झेल ही नहीं पाता है उसी के अनुसार उन्हीं के अनुसार चलता जाता है अगर झेल सकता है तो झेल ले कर ले कहीं भी कर ले कोई स्थान का नियम नहीं है आश्रम में ही हो ऐसा नहीं है जंगल में ही हो ऐसा नहीं है कहीं भी हो सकता है लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि जैसा आश्रम में स्थिति है वैसी ही घर पे है अंतर होता है जैसी जंगल में है वैसी ही शहर में है ऐसा नहीं है अंतर होता है हम्म। वही प्रश्न है <laughs> वैराग्य घर में हो सकता है नहीं हो सकता है तो हो सकता है संभव तो है लेकिन बहुत कठिन है असंभव नहीं कह सकते हो सकता है होता है यदि जागरूकता है तो यदि संसार के भोगों को जागरूक होकर के भोग रहा है तो मोह में मूर्छित होकर के बस चलता जा रहा है भोगों को भोगता जा रहा है धन संपत्ति एकत्रित करता जा रहा है वैराग्य कभी नहीं होगा लेकिन उस सबको करते हुए जागरूक है तो अवश्य होगा अवश्य होगा परमात्मा ने इन विषय भोगों को बनाया ही ऐसा है कि वैराग्य पैदा हो सके वैराग्य पैदा होगा ही कोई उपाय ही नहीं है दूसरा जागरूक होना चाहिए समझदार होना चाहिए नहीं तो खैर आग बंद करके तो वहीं की वहीं चलता रहेगा आंखें खोल के देख लिया तो वैराग्य होना ही है घर में भी वैराग्य होता है वैराग्य की शुरुआत कहां से होती है मूल भूमि क्या है घर है संसार है अब जब ऋषियों ने ये कहा कि विषयों में ये दुख होते हैं विषयों के संपर्क में आए तभी तो कहा विषयों में दुख होते हैं ये ये दुख है संसार में ये ये दुख है यम नियम के विपरीत आचरण करने में ये ये दुख है अब यम नियम के विपरीत आचरण के संपर्क में तो आए ही है ना वो कोई दोष नहीं है होता है किसी के भी साथ में होता है लेकिन उन्होंने समझ लिया यही उनकी विशेषता है अब जो नहीं समझेगा तो नहीं वहीं पड़ा रहेगा वैराग्य की शुरुआत घर से ही होती है फिर वो उससे ऊपर उठने का प्रयास करते हैं हाँ, बिल्कुल कह सकते हो आप लेकिन जो योग दर्शन का वैराग्य है जिस तरह से वो सूत्र बनाया गया दृष्टानुश्रवी के विषय वितृष्ण वशिकार संज्ञा वैराग्य ये जो वितृष्णा है तृष्णा से विपरीत भाव राग से विपरीत भाव और जो व्यास भाष्य भी है यहां वो ही अर्थ उपयुक्त है अगर आप वी का मतलब विशेष विशेष राग संसार का राग छोटा राग और परमात्मा का राग बड़ा राग ठीक है आप इसकी व्याख्या कर सकते हैं एक विशिष्ट व्याख्या आपकी हो सकती है लेकिन योग दर्शन में वो नहीं है वो नहीं है चाहे आप अपर वैराग्य को देखो चाहे पर वैराग्य को देखो पर वैराग्य में भी यही है तथा परम पुरुष ख्याते गुण वैतृष्ट्यम वहां भी वही था अपर वैराग्य में पर वैराग्य में भी वही है यहां इसका स्वरूप निश्चित रूप से यही है जिनमें राग है उनसे हटना दूसरा अर्थ लिया ही नहीं जा सकता यहां पर दूसरा अर्थ नहीं लेना चाहिए कम से कम अष्टांग योग में जो ये पतंजलि का योग दर्शन है इसमें बाकी शाब्दिक रूप से आप वैयाकरण है आप अर्थ कर ही सकते हैं दूसरा अर्थ उसको कोई खंडित नहीं कर सकता ऐसा अर्थ हो सकता है हाँ ठीक है <laughs> इसलिए घर पे जाना चाहिए <laughs> ठीक है जा सकते हैं कोई मना ही नहीं है बिल्कुल है लेकिन घर में इसी जन्म में जाना आवश्यक है या पिछले जन्म में जो गए थे उसी से भी सीख ले सकते हो पीछे कितनी बार गृहस्थ में गए न जाने कितने अगर वहां हमने कुछ सीख लिया है कुछ संस्कार हमने ले लिए हैं जैसे आज जो गृहस्थ में है वो आज कुछ सीख रहे हैं अब मान लीजिए अब उनका अगला जन्म होगा अब यहाँ जो इतने वानपस्थी और लोग बैठे हैं अब ये घर छोड़ छोड़ के क्यों बैठे हुए हैं क्यों ये कष्ट जैसा औरों को तो यही लगेगा ना ये कुछ पागलपन सा है इनको घर में क्या सारी बाहर बेटे थे बहुए थी सारा खाना पीना मिलता था सेवा मिलती थी या झाड़ू भी खुद लगाओ और ये काम भी करो और कुछ डांट फटकार भी सुनो ये अनुशासन में रहो ये सादा खाना घर में आराम से अपने खा लेते दस कठिनाई लगती है ना यहाँ पर लेकिन क्यों बैठे हैं ये गृहस्थ में कुछ अनुभव किया कुछ भावना बनी और अब उस तरफ कुछ बढ़ना चाह रहे हैं अब अगला जन्म होगा तो इन लोगों का क्या स्थिति बन सकती है बचपन से मनुष्य जन्म मिला बचपन से किधर प्रवृत्ति होगी इनकी इनको कौन अच्छे लगेंगे इनको ऐसे कपड़े वाले अच्छे लगेंगे साधु संत अच्छे लगेंगे इनकी अंदर से इच्छा होगी कि मैं भी गुरुकुल जाऊं जैसे आपकी हमारी हो जाती है कि नहीं मेरे को तो गुरुकुल में जाना है मेरे को ये चीज अच्छी नहीं लगती तो ऐसे ही तो होगा ना आज गृहस्थ में है और अगले जन्म में वो सीधे ब्रह्मचारी सीधे सन्यासी बन सकते हैं तो आज अगर किसी के मन में ये भाव है कि नहीं कुछ समझ बन गई है तो वो अनुभव तो हम ले चुके हैं अब हम उस अनुभव का लाभ उठा रहे हैं केवल और नहीं तो गृहस्थ में जाए ना कोई आपत्ति नहीं ईश्वर के द्वारा निर्धारित है विधिवत जाए और उसका लाभ उठाए और गृहस्थ तो घर तो एक प्रतीक के रूप में है अन्य स्थितियों में भी तो विषय भोग हमारे सामने है भिन्न भिन्न विषय भोग सामने नहीं है मूल बात यह है कि विषयों से वैराग्य होता है तो विषयों में दोष देखेगा तभी तो वैराग्य होगा वो विषय केवल गृहस्थ में जाने पे ही हमारे सामने उपस्थित हो ऐसा नहीं है अन्य समय भी उपस्थित रहते हैं उनसे भी व्यक्ति सीखना चाहे तो सीख सकता है प्रश्न पूछते घर पे ही तभी तो ये प्रश्न बन रहे हैं तो फिर नहीं ही मैंने तो नहीं कहा था ना इनका प्रश्न है सर नहीं आपका क्या प्रश्न था घर पर ही वैराग्य होता है घर पे ही क्या प्रश्न था तो प्रश्न आपने बताया तो था कि घर पर वैराग्य होता है हाँ तो वैराग्य की शुरुआत घर से होती है अच्छा आप और हम सब भी तो घर से ही निकले हैं ना वैसे तो गृहस्थ से गृहस्थ में सीखता है व्यक्ति गृहस्थ में सीखता है उसको प्रतीक के रूप में आप ले लीजिए विषयों के संपर्क में आने पे सीखता है अगर जागरूक है तो तो विवेक पैदा होगा नहीं तो नहीं होगा तो घर पर ही वैराग्य होता है तभी घर जाने का प्रश्न चलो ठीक है आपकी बात आपकी बात मान लेते हैं तो उत्तर तो एक ही है जो वही उत्तर है आप ही भी लगा लें तो भी उत्तर तो वही है और उसके लिए मैंने ऐसा मैं ऐसा नहीं मेरा अभिप्राय ये नहीं है कि वहां अनिवार्यता है अगर आप वहां जाए बिना भी सीख सकते हैं समझ सकते हैं तो ठीक है आपने इस तरह का नहीं कहा प्रश्न ठीक है और मैंने पिछले जन्मों की भी जो बात कही वो भी इसीलिए कि आवश्यक भी उस तरह तो वो तो हो चुका है हमारे साथ में वो अनुभव ले भी चुके हैं अगर समझ है तो हमारे को और नहीं है तो ठीक है और और अनुभव इस बार भी जन्म नहीं हुई तो अगले जन्म में और कई जन्मों तक सीखनी आएगी तो चलते रहेंगे उसी में जब तक समझ नहीं आए तब तक अवसर की कोई कमी नहीं है ये घुले मिले ही हैं ये दोनों जुड़े हुए हैं दोनों जुड़े हुए हैं सिख पहले विवेक करें विवेक करेंगे तो वैराग्य आ जाएगा पहले वैराग्य <laughs> ये कह रहे पहले वैराग्य आ रहा है <laughs> नहीं वो वैराग्य का स्तर अलग अलग है <laughs> एक वैराग्य ये सोचते हैं कि आप घर से बैठ के उठ के यहाँ आ गए ये वैराग्य हो गया हमारे को ये तो बहुत स्थूल स्तर है देखिए देखिए अगर हमें वैराग्य दिखाई दे रहा है अगर तो इसका मतलब है विवेक आया है अवश्य अवश्य है हमें पता लग नहीं रहा है पकड़ में नहीं आ रहा ये अलग बात है वैराग्य आया है तो विवेक रहा है हो नहीं सकता है कि बिना विवेक के वैराग्य हो जाए कुछ ना कुछ सोच आया आप जैसे किसी एक चीज का वैराग्य आप या कोई भी बता कोई भी उदाहरण बताइए जिससे आपको लग रहा है कि मेरे को वैराग्य आया जिस भी स्तर पे वैराग्य है पूरा नहीं है आंशिक वैराग्य है कोई एक बात आई तो किस चीज से वैराग्य आया वो बताइए तो उसके कारण भी आपको अवश्य मिलेंगे अपने मेरे को बीड़ी सिगरेट से वैराग्य हो गया इच्छा ही नहीं होती है बीड़ी सिगरेट की नहीं बिना सीखे भी ठीक है चलो परिवार ऐसा मिल गया हम बीड़ी सिगरेट नहीं है लेकिन उसके बाद भी बीड़ी सिगरेट पीने के अवसर तो थे ना आप में तो नहीं है मैं एक उदाहरण दे रहा हूँ किसके बिना एसी के <laughs> वैराग्य हो गया एसी से वैराग्य हो गया वो केवल दिन दिन में वैराग्य हुआ है इनको तपस्या के लिए मैंने कहा कि भाई एसी का प्रयोग छोड़ो बोले जी रात को तो नहीं छोड़ सकता नींद नहीं आएगी तो रात को तो चलाते हैं दिन में नहीं है नहीं चला रहे तो बोले एसी से वैराग्य हो गया तो मैं कह रहा हूँ दिन दिन में हुआ है <laughs> रात को तो चलाते ही है अभी कहाँ वैराग्य हुआ है ये बीस बीस महीनों से रह रहे हैं देखो ये बीस बीस साल से आ रहे हैं फिर भी अगर अभी इनसे पूछें कि क्या पूरा वैराग ऊंचे स्तर का वैराग्य अगर कहें वैराग्य है नहीं तो ये ऐसे नहीं रहते यहाँ पर ऐसे नहीं रहते वैराग्य तो है कम या अधिक हमें कितना भी राग दिखता हो यहाँ रहने वालों में कि इसमें ये राग है इसमें ये राग है ठीक है वो होंगे वो दोष हैं वो कमियां हैं साधना चल रही है पूरा होगा लेकिन कुछ वैराग्य भी है तभी तो यहाँ बैठे हैं तभी तो कुछ नियमों को पालन कर रहे हैं तभी तो कुछ संयम कर रहे हैं उतने अंश में है कुछ तो ज्ञान काम कर रहा है कि भाई मैं घर पे ही वहां पर साल भर रहता रहूं और बुढ़ापा भी वहीं बिता दूं इसमें अब रुचि नहीं रही उसमें अब लगता है नहीं जीवन में कुछ करना चाहिए नहीं तो ये जीवन चला जाएगा यूं ही इतना मात्र जीवन का लक्ष्य नहीं है कुछ और करना चाहिए ये भाव आया ना ये ज्ञान काम कर रहा है ना है ना इतना तो होगा ही ना इसके बिना थोड़ा यहाँ कोई बैठा रह सकता है जिन जिन में जो इस इस तरह आए हैं साधना के लिए आए हैं ज्ञान के लिए आए हैं अपने को तपस्या के लिए आए हैं उनमें ये ज्ञान तो काम कर ही रहा है ये विवेक है उनका इतने इतने अंश में विवेक है तो यदि वैराग्य दिखाई दे रहा है तो ऐसा हम नहीं कह सकते कि बिना विवेक के वैराग्य आ गया वैराग्य तो है कुछ जितना विवेक है उतना वैराग्य भी होगा जितना वैराग्य है उससे पता लगेगा कि हमारा विवेक इतना है सबका अपना अपना है सबकी अपनी अपनी यात्रा चल रही है कोई प्रारंभ में है कोई थोड़ा आगे है किसी में कोई दोष राग है किसी में कोई राग है किसी ने किसी राग को विजय कर लिया है या का क्षीण कर दिया है किसी ने किसी राग को क्षीण किया है सब में एक जैसी स्थितियां नहीं होती हैं सब समान नहीं होते हमें पता है कि भाई हमें राग है अभी लेकिन दूसरा पक्ष भी है कि हमने कुछ राग को छोड़ने का प्रयास भी किया है कुछ राग को हटाया भी है वैराग्य भी प्राप्त किया है कुछ ऐसा विवेक भी प्राप्त किया है हाँ, भविष्य जी ऐसा लगता है कि ज्ञान से राग अब विद्यार्थी जानता नहीं हूँ नहीं तो ये ये जो राग है यदि अविद्या युक्त है तब तो मुक्ति में बाधक है नहीं तो यदि ये बोध हो गया है कि मेरे को ज्ञान नहीं है और मुझे इन शास्त्रों को पढ़ना है ये उचित है राग मात्र किसी को चाहना ये कोई मुक्ति में बाधक नहीं है भोजन को भी हम चाहते हैं वस्त्रों को भी हम चाहते हैं हम पानी को भी चाहते हैं उचित उपयोग की दृष्टि से जब ये सारी चीजें की जाती हैं तो ये राग या ये इच्छा ये प्रीति ये मुक्ति में बाधक नहीं होती ऐसे ही ज्ञान और शास्त्र भी हैं यदि वो विभिन्न यश के लिए धन के लिए उसको कर रहा है ज्ञान प्राप्ति मुख्य नहीं है मुक्ति प्राप्ति मुख्य नहीं है तो वो राग का कारण माना जा सकता है लेकिन अगर उचित ढंग से कर रहा है तो उसको दोष रूप में नहीं उसको दोष रूप में नहीं कहेंगे ठीक है रविशंकर हाँ, ऊंचा थोड़ा तेज बोला करो सबको भी साथ ही साथ सुनाई दे जाए हाँ राग से युक्त जो प्रकृति होती है और मोह से युक्त तो तो तो राग में अपेक्षाकृत जागरूकता रहती है मोह में अज्ञानता रहती है तमोगुण रहता है अज्ञानता से मोह का उदाहरण वहां पर दिया वितर का हिंसा दया कृतकारित अनुमोदित और लोक क्रोध मोहपूर्व का तो लोभ तो हो गया राग की तरह से क्रोध हो गया द्वेष की तरह से और मोह हो गया अज्ञानता की तरह से मान लीजिए किसी ने अज्ञानता में ये देखा कि मैं इस पशु की बलि दूंगा और इससे मेरे को लाभ हो जाएगा ठीक है होगा नहीं होगा नहीं ऐसा उसने सोचा अज्ञानता से और उस ओर प्रवृत्त हो गया है यह है मोह एक की मिठाई है और इसको मैं खाऊंगा और इससे मेरे को मीठा लगेगा और अच्छा लगेगा नमकीन है ये खाऊंगा ठीक है वो करेगा और उसको मीठा अच्छा लगेगा भी और उसको तो वो करता चला जा रहा है एक है कि ऐसे उपाय को कर रहा है जो कि अज्ञानता से कर रहा है और वो उससे कोई लाभ होना नहीं है उसको जो चाह रहा है वो होना नहीं होना नहीं है वो आता है मोह के अंदर अज्ञानता से युक्त है तमोगुण से युक्त है और राग के अंतर्गत वो चीजें वो चाहता है वैसी करता है वो पाता है उतने अंशों में वैसा होता है पूरा नहीं होता वो एक अलग बात है वहां भी अज्ञानता है लेकिन उसको पाता है करता है उन चीजों का अधिक से अधिक उपयोग करना चाहता है वो राग के अंदर है जैसे कि कोई यूं सोचे कि गंगा स्नान करूंगा मूर्ति के आगे ये ये चढ़ावा चढ़ाऊंगा इससे मेरे को ये ये लाभ हो जाएगा ये मोह है यू राग भी दिखाई देगा राग सुख सुख हमें दिख रहा है वहां पर लग रहा है हमें अनुभव में आ रहा है ठीक है और वो उसको पाने के लिए प्रयास कर रहा है जैसे कि विषयों के सुख हैं मोह में ऐसा वो सोच रहा है कि ऐसा हो जाएगा तो किसी ने कह दिया मान लिया और उसके पीछे लगा हुआ है वो अज्ञानता में इस तरह की चीजें मोह में आएंगी माँ ये सोच रही है कि बेटा मेरे पास रहेगा तो बाहर नहीं जाएगा और मैं इसको अधिक सुखी रखूंगी बाहर पढ़ने के लिए नहीं भेज रही है सोच रही है कि ये यहां रहेगा तो ज्यादा अच्छा रहेगा लेकिन ये आवश्यक नहीं वहां उसकी योग्यता नहीं बन पाएगी वो अधिक सुख नहीं दे पाएगा मां को लेकिन मां ऐसा सोच रही है अज्ञानता में वो सुख देख रही है कि ऐसा होगा ऐसा होगा नहीं लेकिन तो मोह के अंदर अज्ञानता रहती है अज्ञानता से हम कोई काम करते हैं भले ही रहे मैं आपको जो अंतर बताना चाह रहा हूं उसको देखो समानता को मत देखो यदि आपको दो चीजों में भिन्नता समझनी है तो आपको विशेषता देखनी पड़ेगी विशेषता दिखाई जा रही है तो विशेषता को ही देखो आप उसमें समानता देखने लगोगे तो आप एक ही समझोगे एक ही तो समझोगे आप दो कपड़े वाला कपड़े दिखा रहा है ये कपड़ा और वो कपड़ा ठीक है दुकानदार तो को कहा कि भाई मेरे को वो कपड़ा दो जिससे कुर्ता बनता है और एक कुर्ते का भी कपड़ा है और एक पजामे का भी कपड़ा है कुछ अलग होता है कभी एक भी होते हैं लेकिन अलग भी होते हैं या और आप समझ लो कि चादर बिछाने की चादर का कपड़ा और कुर्ते का कपड़ा तो बोले मेरे को तो एक ही जैसे कपड़े दिखाई दे रहे हैं बोले नहीं देखो वो दुकान वाला भिन्नता बताएगा देखो ये ऐसा है ये ऐसा है बोले नहीं धागे तो इसमें भी है धागे तो उसमें भी है हाँ, ठीक है धागे तो दोनों में है समानता तो दोनों में है आपको यदि भिन्नता समझनी है तो विशेषता पे ध्यान देना होगा इसमें और इसमें अंतर क्या है विशेषता पे ध्यान देना आप उनकी समानता देखने लगोगे तो आपको एक ही दिखाई देगा ना आप अगर भिन्नता समझना चाहते हो तो आप उन दोनों की भिन्नता को अंतर को समझना चाहते हो तो उनकी विशेषताओं पे आपको ध्यान देना पड़ेगा नहीं तो समानता तो देखेंगे तो एक ही दिखेगा आप भिन्नता कैसे करोगे हुँ? हम्म? आपके सामने वो टॉर्च पड़ी हुई है और लेखनी भी पड़ी हुई है कि इन दोनों में क्या भिन्नता है एक ही है नहीं भिन्नता है ना देखो इससे लिखा जाता है इससे देखा जाता है बोलो वो भी प्लास्टिक की बनी हुई है ये भी प्लास्टिक की बनी हुई है भिन्नता कहा है इसमें एक ही हुई है तो ये भी बाजार से खरीद के लाए थे इसको भी बाजार से खरीद के लाए थे ऐसे थोड़ा देखेंगे कभी भी भिन्नता दिखाई जा रही है तो भिन्नता हाँ ये चीज भिन्नता है दोनों में राग है उसका मैंने मना ही नहीं किया है उसमें भी अंश है लेकिन मैंने मुख्य अंतर बताया था राग में ज्ञान जागरूकता समझ रहती है मोह के अंदर अज्ञानता मूर्खता नादानी ये चीजें वहां अधिक रहती हैं अब चाहेगा तो आदमी हमेशा जिस चीज को भी चाहेगा उसमें आप राग देख ही सकते हैं जिसको भी चाहेगा उसमें आप राग कह ही सकते हैं सात्विक रूप से भी किसी को चाहेगा उसमें भी कोई राग कह सकता है राजसिक रूप से चाहेगा उसको भी राग कह सकता है और तामसिक रूप से चाहेगा उसको भी राग कह सकता है कोई लेकिन अंतर है तीनों में सात्विक रूप से जब किसी चीज को चाहेगा तो विवेक युक्त होकर के चाहता है राजसिक रूप से चाहता है तो विवेक कम रहता है कुछ रहता है लेकिन चंचलता अधिक रहती है लौल्य अधिक रहता है और मोह रूप में जब चाहेगा तो वहां ज्ञान और कम रहता है लेकिन चाह तो रहा है अब आलस्य में कोई पड़ा हुआ है मेहनत नहीं करता है नौकरी पे नहीं जाता है पढ़ा है वैसे ही तो पढ़ा है तो ये आलस्य है आलस्य है ना आलस्य मतलब क्या कुछ ना चाहना पैसा ना चाहना एक जना पैसे के लिए भाग रहा है वो मेहनत कर रहा है परिश्रम कर रहा है छह घंटे आठ घंटे तो बोले देखो ये चाह नहीं रहा है इच्छा ही नहीं है इसलिए पड़ा हुआ है यहाँ पर तो सोना तो वहां भी चाह रहा है आराम करना चाह रहा है ना सुख तो वो भी चाह रहा है जो पैसा कमाने के लिए मेहनत कर रहा है धूप में भागदौड़ कर रहा है वो भी तो चाह रहा है किसके लिए सुख के लिए ही चाह रहा है वो भी और ये जो पड़ा हुआ है जो नहीं चाह रहा है जिसको हम कह रहे हैं कि कुछ नहीं चाह रहा है ये भी तो चाह रहा है किसको सुख को तो ये भी चाह रहा है उसको मेहनत में वहां पर दुख दिखाई दे रहा है मेहनत से होने वाला लाभ उसको दिखाई नहीं दे रहा है तो दोनों ही सुख को चाह रहे हैं लेकिन फिर भी हम कहते हैं कि जो पड़ा हुआ है इसको कुछ सुख साधनों से लेना देना ही नहीं सुख ही नहीं चाहता है संसारिक सुख नहीं चाहता है राग दोनों में चाहते दोनों हैं लेकिन एक तमोगुण से युक्त है एक रजोगुण से युक्त है ये अंतर रहेगा ठीक है इतना रखते हैं बहुत समय हो गया तीन बार ओम का उच्चारण फिर मंत्र पाठ ओ